तौफीक से उसी की मेहरबानी से और उसी की रहमतों से हम आज चौथी नशस्त में हाजिर हैं तहफ़ ईमान ये नशस्त है पहली नशस्त में जैसा कि आप जानते हैं ईमान की हिफाजत कैसे की जाए दूसरी नशस्त में अल्लाह ताला की शान अल्लाह की ज़ात और तोहद और शिर के मुतालिक हमने समात किया और तीसरी नशिश में हमने अकीदा तकदीर और फरिश्तों के बारे में समाप्त किया और आज इन अज्जवजल अल्लाह ताला की आसमानी किताबों और रसूलों के बारे में हम इस्लामी अकायद समाप्त करेंगे आइए इस नशिश की इब्तदा उस दुआ से करते हैं जिसकी तालीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी कि इस दुआ को कसरत से पढ़ना चाहिए या मुकल्लिब अलकलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकल्लिब अलकलूब सबित कलबी अला दीनिक ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदमी अता फरमा या मुकल्लिब अलकलूब सबित कल्बी अला दीनिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदा में हम उस हदीस पाक को दोबारा रिपीट करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया एक दौर ऐसा आएगा बंदा सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाएगा शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा दुनिया के बहुत थोड़े सामान के बदले में वो अपना दीन और ईमान बेच देगा यह हदीस पाक का जहूर हम देख रहे हैं कि लोग थोड़े थोड़े पैसों की खातिर अपना ईमान बर्बाद कर देते हैं रात को एक भाई से मुलाकात हुई तो वो कहने लगे कि एक मैं दुकान पर गया तो दुकानदार से मैंने कहा कि जनाब आप ईमानदारी से काम लें तो दुकानदार कहने लगा कि मैं यहां कारोबार करने के लिए आता हूँ ईमान में घर पे रख के आता हूँ नऊजबिल्ला तो उस भाई ने कहा कि मैंने उससे कहा कि आप तो नमाज भी पढ़ते हैं और आपका तो यकीदा है कि जो या रसूलुल्लाह कहे वो मुशरक है आप तो उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो मीलाद के भी मुखालिफ हैं तो आप अपने जमात के लोगों से पूछिएगा अपने ओलमा से पूछिएगा कि ये जुमला कैसा है कि मैं ईमान तो घर पर रख कर आता हूं तो जब आप ईमान घर पर रखकर आते हैं तो वहां से लेकर दुकान पर आप बगैर ईमान के चलते हैं और फिर यहां से वापस आप बगैर ईमान के जाते हैं तो बगैर ईमान के जो चले और जाए वो तो काफिर हुआ तो कहने लगा कि मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता और मुझे कोई परवाह नहीं है यानी देखें सिर्फ दो हजार रुपये की बात थी तो दो हजार रुपये की खातिर उस दुकानदार ने कैसा सख्त जुमला कह दिया और ये एक ऐसा जुमला है जो मार्केट में आम बोला जाता है हम यहाँ ईमानदारी करने नहीं आए हम तो यहाँ कारोबार करने के लिए आए हैं हम तो ईमान घर पर रखकर आए हैं इस तरह के जुमले लोग बोलते हैं सिर्फ किसके लिए दुनिया की हकीर दौलत के लिए सदक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ने सच फरमाया कि इंसान दुनिया के थोड़े से सामान के बदले में अपना ईमान बेच देगा सुबह मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा या शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर होगा अल्लाह हमें ईमान की हिफाजत की फिक्र करने की तोफीकता फरमाए कुरान मजीद फ़ुकान हमीद अल्लाह की किताब है और इसके कई दलाइल हैं उनमें से एक दलील ये है कि खुद कुरान अल्लाह की किताब होने पर अपने आप दलील है क्योंकि खुद कुरान ऐलान के साथ कह रहा है व इन कुन तुम फी मिम्मा नजलना अला अब्दिना और अगर तुम्हें शक है उसके बारे में जो हमने नाजिल किया अपने बंदे खास पर यानी इस कुरान के बारे में तुम्हें शक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बना लिया है फ़ातू बिसूरत मिमसली तो तुम इसके जैसी एक सूरत बनाकर दिखाओ वदो शहदाकुम ही इनकुन तुम सादिकीन तुम अपने मददगारों को अल्लाह के सिवा बुला लाओ अगर तुम सच्चे हो फ़ैलम तफ़ालू फिर अगर तुम कुरान जैसी एक सूरत न बना सको वलन तफ़ालू और हम कह देते हैं कि तुम कभी भी इसके जैसी एक सूरत बना नहीं सकोगे फतकुन नारल्लती तो डरो उस आग से अल्लती वकूदहन नास वलहिजारा कि जिसका ईंधन लोग और पत्थर है वो ओदत लिल काफिरीन ये आग तैयार की गई है काफरों के लिए लिहाजा काफरों ने इसके मुकाबले में जी तोड़ कोशिशें की मगर वो उसकी मिसल एक आयत भी न बना सके और ना कभी भी बना सकेंगे ये बात एक हकीकत है कि दीन इलाही सिर्फ मुसलमानों के पास महफूज है यहूदियों के पास भी दीन इलाही महफूज नहीं ईसाइयों के पास भी महफूज नहीं लेकिन हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तु जिन्हें अल्लाह ताला ने साढ़े तीन सौ बरस की उम्र अता फरमाई आप पहले आग की पूजा किया करते थे फिर आपको एक ईसाई राहिब मिला और आपने हजरत ईसा सलाम के दीन को कबूल किया फिर जब वो मरने लगा तो उसने दूसरे के पास भेजा फिर तीसरे के पास भेजा तो ईरान से लेकर मदीन मुनवरा तक उस दौर में हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि सारे राइब वो दीन ईसा पर नहीं थे सिर्फ चार राहिब मुझे मिले हैं जो दीन ईसा को मानने वाले थे जब उस दौर में यह हाल था तो अब तो ये नाम के बिल्कुल ईसाई हैं इनका अपने मजहब से कोई खास ताल्लुक नहीं जिस चीज का चाहते हैं वो इनकार कर देते हैं तो इन्होंने रद्दबदल भी किया और फिर जो आखिरी राहिब हजरत सलमान फारसी को मिला उसने ये कहा था कि खजूर वाली बस्ती में जाओ नबी आखिर जमा का ज़माना जो है बिल्कुल करीब है और ये ये निशानियाँ हैं और फिर हजरत सलमान फारसी रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो गए बताना ही मकसूद है कि दीन इलाही सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पास है और दूसरी बात एक है जिंदगी अपनी सोच और अपने नजरिए या लोगों के नजरिए के मुताबिक गुजारना और एक है जिंदगी गुजारना अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक बताइए कौन सा तरीका कामयाब है कौन सा तरीका अच्छा है किस में कामयाबी है दुनियावी और उखरवी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास दीन इलाही अपनी असल हालत में मौजूद है कुरान असल हालत में मौजूद है अहादीश तैयबा असल हालत में मौजूद है और नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि के साहबा कराम इन पर हम कुर्बान जाएं उन्होंने रसूलुल्लाह की सीरत और सुन्नत का एक एक पहलू हम तक पहुंचा दिया इस तरह ना हजरत ईसा सलाम की सीरत महफूज है ना हजरत मूसा सलाम रसूलुल्लाह के खाने का अंदाज सोने का अंदाज चलने का अंदाज रात गुजारने का अंदाज और पुरानी वजीब फ़ुकान हमीद ने हमें यह भी सिखा दिया लक़द खाना लकुम फी रसूल उसवत हसना बेशक रसूलुल्लाह की ज़िंदगी ही में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है अब इस बात को आप समझ लें कि काफिर इस बात को समझते हैं कि मुसलमान कमजोर हैं जलील हैं बिल्कुल नाकारा हो चुके मगर जिस दीन से इनको मोहब्बत है वो दीन बड़ा ताकतवर है अगर कोई ऐसी तहरीक उठी कि मुसलमानों को उसने इस दीन से वाबस्ता कर दिया तो फिर दोबारा मुसलमान सुपर पावर बन जाएंगे तो इसलिए हमेशा से काफरों की कोशिश रही कि मुसलमानों से दीन का ताल्लुक कुरान से मोहब्बत का ताल्लुक ये टूट जाए और इनकी जबान पर कुफरियात जारी हो जाए इंसान कितना भी गुनागार हो लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से उसका ताल्लुक मजबूत है वो ईमान वाला है तो कभी भी चोट लग सकती है और वह दोबारा जो है वो अमल की दुनिया में आ सकता है फिर हमारा माजी भी ये बताता है एक वक्त वो आया था अगर तारीख का मताल करें तो वो वक्त आया था कि सलीबी जंगें हो रही थी चारों तरफ से मुसलमान मिट रहे थे बैतुल मकदस हमारे हाथ से चला गया मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था कोई बचाने वाला नहीं था तारीख दान लिखते हैं कि उस वक्त मुसलमानों के हालात ऐसे थे कि लगता यह था कि अब दुनिया में एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा लेकिन उस वक्त एक ऐसा सुल्तान बना कि जिसका नाम था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अली रहमान और वो पूरी पूरी रात नमाज तहजद में और सलातुल्लैल में गुजारा करते थे और आपको मुसलमानों का दर्द इतना था कि एक मौके पर आपने मुस्कुराना बंद कर दिया तो एक आलिम ने उनसे कहा कि ए सुल्तान मुस्कुराना तो इबादत है सदका है यानी किसी मुसलमान को देखकर मुस्कुराएं उसका दिल खुश होगा आपको सवाब मिलेगा तो आपने फरमाया फुला इलाके में मुसलमानों का मुआसरा किया गया है बच्चे औरतों पर काफिर जुल्म कर रहे हैं मैंने कसम खाई है जब तक मुसलमानों की तकलीफ दूर नहीं होगी नूरुद्दीन जंगी कभी मुस्कुराएगा नहीं वह आलिम रात को सोए तो रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ और रसूलुल्लाह ने फरमाया नूरुद्दीन जंगी के पास जाओ और इससे कहो कि तुम्हारा ये जुमला अल्लाह की बारगाह में ऐसा मकबूल हुआ कि तुम्हारे ये कहने की वजह से अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह दे दी तो वो भागे भागे रात को गए सुल्तान का ये आलम है रात को गए दरवाजे पे दस्तक दी तो घर से आवाज आई कि भाई किससे मिलना है कहा सुल्तान से मिलना है इस वक्त उनके आराम का टाइम होगा लेकिन मैं रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं तो अंदर से आवाज आई आपको किसने कह दिया कि सुल्तान रात को सोते हैं ये तो पूरी रात ही इबादत करते हैं जाइए जाम मस्जिद उमवी में जो दिमिश की जाम मस्जिद है वहां वो अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे वो आलिम जब वहां गए तो देखा सुल्तान सज्जे में है और रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं उन्होंने कहा अभी सज्जा ख़त्म होगा अभी ख़त्म होगा फजर हो गई फजर की नमाज का मुलाकात की और उन्हें रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि पैगाम आपने आधा पहुंचाया पूरा पहुंचाइए तो कहा मुझे बोलते हुए शर्म आती है तो फरमा नहीं रसूलुल्लाह का फरमान आप ज़रूर पहुंचाएं तो कहा रसूलुल्लाह ने मुझे ये भी कहा था कि नूरुद्दीन जंगी अगर तुझसे निशानी पूछे तो उससे कह देना कि एक जंग के अंदर क्योंकि नूरुद्दीन जंगी की आदत थी जब भी जंग में जाते तो औलिया कराम बुजुर्गान दीन को आगे रखते थे और उनके वसीले से दुआएं करते थे तो नूरुद्दीन जंगी से कहना कि जब तुम्हें शिकस्त होने लगी थी तो तुमने सज्जा किया था मैदान जंग में और तुमने ये कहा था मालिक को मौला मेरे साथ तेरे नेक बंदे हैं औलिया हैं ओलमा हैं हफाज हैं इन ओलमा और अलिया के सदके में मुझे फतेह नुसरत अता फरमा तो ये लफ्ज उन्होंने दुआ में कहे थे और अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाए और इन्हें फतेह नसीब हुई थी तो ये पैगाम मेरी तरफ से कह देना तो आप देखें कि वो जब नूरुद्दीन जंगी इस कदर इबादत गुजार थे और फिर नूरुद्दीन जंगी के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जिनके सर पर हजूर गौसे आजम ने दस्ते शफकत फेरा था और दुआ दी थी कि ये मुसलमानों का बहुत बड़ा सुल्तान होगा और उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की उम्र सिर्फ दस साल थी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उठते हैं और पूरी मुस्लिम उम्मा उनके साथ मुतहद हो जाती है और फिर ऐसा वो हमला करते हैं कि सलेबी जंगों का नामो निशान मिटा के रख देते हैं किबल अव्वल फतेह हो जाता है काफिरों को जिल्लत रसवाई हो जाती है और कई सदियों तक काफिर फिर मुसलमानों के खिलाफ अपना सर नहीं उठा सकते तो वो ये जानते हैं कि ये कुरान जो है ये दीन इलाही है और इनके पास महफूज है मुसलमान कमज़ोर हैं लेकिन इनके पास जो दीन है बड़ा ताकतवर है जब भी मुसलमान इससे इससे इनका ताल्लुक जुड़ गया तो ये मजबूत हो जाएंगे और फिर दोबारा इनका जवाल उरूज में तब्दील हो जाएगा इसलिए ये मुसलमानों को कुरान से दूर करने के लिए क्या करते हैं मीडिया के जरिए कुफरियात सिखाए जाते हैं चाहे गाने हों चाहे फिल्में हों चाहे ड्रामे हों चाहे कोई टीवी प्रोग्राम हो इसमें कुफरियात बके जाते हैं और अब एक शख्स आप बताइए कि अगर कुफर बक दे तो ईमान तो चला गया जब ईमान चला गया तो अब कभी भी वो चाहे कितनी भी इबादत करे कितने भी रोजे रखे उसे इस्लाम की रूहानियत मिल ही नहीं सकती अल्लाह ताला हम सब के ईमानों को सलामत फरमाए और हमें इसकी हिफाजत की तोफ़ी अता फरमाए पिछली किताबें अम्बिया ही को जबानी याद थी कुरान अजीम का मुआजा है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा याद कर लेता है इन्ना नाहन नजल न जिक्र व इन्ना लहू लहाफिजून बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है ये शख्स कुफरियात बकता है क्लीन शेव है नंगे सर बैठता है और ये यहूदियों और ईसाइयों से तालीम याफ्ता है मुस्तशरकिन मुस्तशरकिन उस तबके को कहते हैं जो ईसाई और यहूदी होते हैं लेकिन कुरान और हदीस के बड़े माहिर होते हैं और इसका जो मिशन है जावेद गामदी हो या बाबर चौधरी हो इस तरह के लोगों का मिशन है लोगों में कन्फ्यूजन पैदा करना दीन के बारे में कन्फ्यूज कर देना और दीन को इतना आसान कर देना कि बंदे की यह सोच बन जाए जो मेरा दिल चाहे मैं करूं मैं कोई दीन का पाबंद नहीं हर चीज को अकल पर तोलना हर चीज को अकल पर हम नहीं तोल सकते क्योंकि दीन इलाही है और हमारी अकल जो है वो तरक्की पजीर है बस चीज़ें अभी समझ में नहीं आती बाद में समझ में आ जाती हैं तो अगर कोई चीज़ हमारी अकल में आ जाए तो यह अकल की शहादत है और कोई चीज़ अकल में ना आए तो यह अकल का नुक्स है हमने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा है अकल का कलमा हमने नहीं पढ़ा तो हमें कोई चीज़ समझ में आए या ना आए हमें तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर जान भी कुर्बान कर देंगे तो इनका क्या मामला है मसलन जावेद गांधी से किसी ने पूछा कि लड़के लड़कियां अगर दोस्ती करते हैं कॉलेज के अंदर तो आपका क्या ख्याल है तो ये कहता है कि कोई हरज नहीं बस नीयत साफ होनी चाहिए बेहयाई नहीं होनी चाहिए अब पता नहीं बेहयाई से इसकी क्या मुराद है किसी ने कहा कि लड़के लड़कियां अगर नाच करते हैं एक साथ तो कोई हरज नहीं बस बेहयाई नहीं होनी चाहिए यानी इन्होंने बेहयाई किस चीज का नाम रखा है क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तालीमत इसकी इजाजत देती हैं तो इसी तरह ये जावेद गांधी सात किरात का इनकार करता है और सात किरात बरहक है उनमें से किसी एक किरात का इनकार करने वाला काफिर है सातों किरातें रसूलुल्लाह ने सिखाई हैं और कुरान सात किरातों में नाजिल हुआ है जबरील अमीन जब रसूलुल्लाह के सामने कुरान पढ़ते तो वो सात किरात के अंदर उसकी तिलावत करते हैं तो ये सातों किरातें बरहक हैं हाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन वालों को एक किरात सिखाई शाम वाले आए तो आपने उनको दूसरी किरात सिखाई ताकि कुरान मजीद फ़ुकान हमीद मुख्तलिफ किरतों में वो मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाए अब ये समझ लें कि जो किरात का इख्तलाफ है यानी किरातें जो सात हैं इसमें मफहम एक ही निकलता है मफहम में कोई फर्क नहीं सिर्फ पढ़ने का अंदाज का फर्क है और सातों किराते बरहक हैं और इसका इनकार करने वाला काफिर है और ये जावेद गांधी इसका सरेआम इनकार करता है हालांकि इस पर सहाबा ताबईन तबा ताबईन आयम मुश्तिन अलिया कामिलीन का इजमा है कि सातों किराते बरहक हैं और जो इसमें से किसी एक का भी इनकार करे वो काफिर है हाँ ये ज़रूर है कि ये सातों जो किराते हैं इसमें से लोगों के सामने वही किरात पड़ी जाए जो उस मुल्क में राइज हो जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इलाके वालों को एक करात सिखाई अब यह हुआ कि दूसरे इलाके का कारी वहां पर पहुंचा उसने किरात की तो उन्होंने घेर लिया उन्होंने कहा भाई हमें तो रसूलुल्लाह ने इस तरह नहीं सिखाया तो ये दोनों रसूलुल्लाह की खिदमत में आए तो हजूर ने फरमाया मैंने इनको यह सिखाया तुम्हें यह सिखाया दोनों हक है लेकिन जिस इलाके में जो किरात पढ़ी जा रही हो वही पढ़नी चाहिए ताकि लोग जहालत की वजह से इनकार ना कर दें मसलन सदुशरिया बदर तरीक़ा हज़रत अलामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली ख़ान आला हज़रत इमाम अहल सुन्नत के खलीफा आप लिखते हैं कुरान अजीम की सात किरातें सबसे ज़्यादा मशहूर और मुतवातिर हैं मुतवातिर का मतलब जिसका इनकार कुफर है इनमें माज अल्लाह कहीं भी माना का इख्तलाफ नहीं वो सब हक हैं इसमें उम्मत के लिए आसानी यह है कि जिसके लिए जो किरात आसान हो वो पढ़े और हुक्म यह है कि जिस मुल्क में जो किरात राइज है अवाम के सामने वही पढ़ी जाए जैसे हमारे मुल्क में किरात आसिम ब रिवायत हफस इमाम आसिम के दो शागिर्द हैं उनमें से एक शागिर्द हैं इमाम हफ्स तो हमारे पास हमारे मुल्क में जो किरात राइज है वो इमाम आसिम से मरवी है और इमाम आसिम ये साहबा कराम से फैज लेते हैं और साहबा ने हजूर से फैज लिया इमाम आसिम के शागिद इमाम हफज से ये किराद हमारे यहाँ पहुंची है तो वही किरात पढ़नी चाहिए जो मुल्क में राइज हो ताकि लोग जहालत की वजह से इनकार करेंगे और ये माज अल्लाह कलम कुफर हो जाएगा अब ये समझ लें कि जो मुख्तलिफ किरातें हैं पहले तो आपने समझ लिया इसमें माना का कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी बात यह समझ लें कि ऐसा नहीं है कि हर हर लफ्ज पर साथ साथ कराते हैं बल्कि यूं समझिए कि पूरी सूर्य फातिया है तो पूरी सूर्य फातिया में तीन लफ्ज हैं कितने लफ्ज तीन लफ्ज हैं कि जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ने दो तरीकों से पढ़कर सिखाया अब जो सात कारी हैं उनमें से तीन जो हैं एक तरीके से पढ़ते हैं तो चार जो है वो एक तरीके से पढ़ते हैं कहीं जो है पांच एक तरीके से पढ़ते हैं तो दो कारी एक तरीके से पढ़ते हैं मसलन मालिकी यौमिद्दीन तो हमारे मुल्क में जो किरात राइज है उसमें हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन और जो दीगर ममालिक में राइज है वो है मलिकी यौमिद्दीन क्या है जोर से कहें मलिकी यौमिद्दीन अब आप देखें अगर अगर आप मालिक लिखा हुआ देखें तो मीम के साथ अलिफ नहीं लगाया गया लगाया गया और ये भी एक जरूरी है कि जैसा कुरान हजरत उस्मान गनी ने लिखना सिखाया उसी तरह हमें लिखना है कि ये लिखने का तरीका भी वाजिब है इसी तरह लिखना है कुरान हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते तो मालिक योमद्दीन में अलिफ नहीं तो हम लिखते हुए सूर्य फातिहा में मालिक में अलिफ नहीं लगा सकते क्योंकि रस्मुल खत भी ये फर्ज है और इसमें रद्द बदल करना हराम है तो जिस तरह कुरान लिखा गया इसी तरह हमें लिखना चाहिए तो मालिक योमद्दीन में अलिफ नहीं लगाया गया बल्कि क्या लिखा गया मीम लाम काफ अब मीम पर जबर लगा दें तो क्या हो जाएगा मालिक योमद्दीन और मीम पर खड़ा जबर लगा दें क्या हो जाएगा मालिक योमद्दीन और जब हजरत उस्मान गनी ने मसहब शरीफ तैयार किया था उस पर जबर जेर पेश थे नहीं उस पर जबरदर पेश थे नहीं और आपने फिर इन नुस्खों को मुख्तलिफ ममालिक में भेज दिया तो जिनको रसूलुल्लाह ने मालिक सिखाया था वो मालिक योमुद्दीन पढ़ते थे और जिन्हें सिखाया था मलिक योमुद्दीन था तो वो मलिक योमुद्दीन पढ़ते थे सूर्य फातिहा में दूसरा मकाम है सिगौत एक किरात में स्वाद के साथ है और दूसरा रसूलुल्लाह ने इसे सीन के साथ पढ़ा है सिगौतल्लदीना स्वाद के साथ सिगौतल्लदीना तो स्वाद के साथ भी पढ़ना दुरुस्त है और सीन के साथ भी ये दो किराते हैं अब इसका फायदा क्या हासिल होता है फायदा यह हासिल होता है कि अगर कोई शख्स सूर्य फातह पढ़ते हुए गलती कर दे और सिहात की जगह सिहात पढ़ दे तो उसकी नमाज में कोई हरज वाक़ नहीं होगा इसी तरह सिगातल्लिन अनआमता हिम तो दूसरा तरीका जो रसूलुल्लाह ने साहब कलाम को सिखाया हिम की जगह हम दोनों सही है हिंद पढ़े तब भी वही माना है और हम पढ़े तब भी वही माना है तो माना में कोई फर्क नहीं है सिर्फ ये पढ़ने के तीन अंदाज हैं सूर्य फातिहा में आप मिसाल के तौर पर एक और सूरत ले लें सूर्य फलक तो सूर्य फलक में सिर्फ एक लफ्ज है कि जिसे रसूल ने दो तरीकों से पढ़ना सिखाया वो लफ्ज है वमिन शर्रिन नफा फिल तो वमिन शर्रिन नफा साथ भी पढ़ा गया और नाफी साथ भी पढ़ा गया वमिन शर्री नाफी साथी फिलवकत और वमिन शर्रिन नफा साथी फिलवकत तो नाफी साथ भी पढ़ा गया और नफा साथ भी पढ़ा गया दोनों का मतलब एक ही है तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि सात किरातों का यह मतलब नहीं कि हर हर लफ्ज पर सात तरीके हैं बल्कि हर लफ्ज पर नहीं बल्कि कहीं कहीं एक लफ्ज को दो तरीकों से या तीन तरीकों से पढ़ना रसूलुल्लाह ने सिखाया कुरान मजीद ने अगली किताबों के बहुत से अहकाम मनसूख कर दिए यूं ही कुरान मजीद की बाज आयतों ने बाज आयात को मनसूख कर दिया नस का मतलब यह है कि बाज अहकाम किसी वक्त तक के लिए होते हैं मगर यह जाहिर नहीं किया जाता कि ये हुक्म फला वक्त तक के लिए है जब वक्त पूरा हो जाता है तो दूसरा हुक्म नाजिल हो जाता है जिससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि पहला हुक्म उठा दिया गया और हकीकतन देखा जाए तो उसके वक्त का ख़त्म हो जाना बताया गया मतलब क्या मतलब ये कि मसलन पुरानी मजीद फ़ुकान हमीद में ये तो आप बात जानते हैं कि जो इस वक्त आयतों की तरतीब है कुरान इस तरतीब से नाजिल नहीं हुआ ये तरतीब लोहे महफूज की थी और रसूलुल्लाह ने लोहे महफूज पर नज़र फरमा कर इस तरतीब से याद करना सिखाया और लिखना सिखाया इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि सूर्य बकरा की आयत नंबर दो सौ चौंतीस और सूर्य बकरा की आयत नंबर दो दो सौ चालीस सौ 234 और फिर कौन सी है 240 लेकिन नाजिल होने में पहले 240 नाजिल हुई है और फिर 234 आयत नाजिल हुई है नाजिल होने में तरतीब यह है जैसे कुरान की तरतीब में पहली सूरत सूर्य फातिया है लेकिन नाजिल होने वाली पहली सूरत कौन सी है सूर्य अलग जो तीसवें बारे में है तो सूर्य बकरा आयत नंबर 240 में यह हुक्म दिया गया कि अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए तो बेवा की इद्दत एक साल होगी कितनी होगी एक साल लेकिन सूर्य बकरा की आयत नंबर 234 में यह हुक्म दिया गया फिर बाद में कि बेवा की इद्दत चार महीने और दस दिन होगी तो पहला जब हुक्म आया कि बेवा की इद्दत एक साल है अल्लाह ताला का इल्म तो अजली अबदी कदीम है वो तो हमेशा हमेशा से हर बात को जानता है तो उसके इल्म में ये बात है कि ये हुक्म जो है एक महदूद वक्त के लिए लेकिन लोग नहीं जानते कि ये बेवा का जो हुक्म आया है कब तक है फरमाया बेवा की इद्दत एक साल है फिर कुछ अरसे के बाद ये हुक्म दिया गया कि बेवा की इद्दत चार महीने दस दिन है मतलब क्या हुआ कि वो जो हुक्म था उसका पीरियड अब खत्म हो गया अब नया ये हुक्म आ गया और ये हुक्म फिर कयामत तक बरकरार रखा गया तो क्या फरमाते हैं फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि बाज अहकाम किसी खास वक्त तक के लिए होते हैं मगर यह जाहिर नहीं किया जाता कि यह हुक्म फला वक्त तक के लिए है जब मैद पूरी हो जाती है तो दूसरा हुक्म नाजिल होता है जिससे बज़ाहिर यह मालूम होता है कि पहला हुक्म उठा दिया गया और हकीकतन देखा जाए तो उसके वक्त का ख़त्म हो जाना बताया गया दूसरी आयत ने यह बताया कि पहले हुक्म का पीरियड अब ख़त्म हो गया मनसूख के माना बाज लोग बातिल होना कहते हैं ये बिल्कुल गलत है ये बहुत सख्त बात है अहकाम इलाहिया अल्लाह के तमाम अहकाम सब हक हैं कोई हुक्म बातिल हरगेज नहीं है असल में बात यह थी कि लोग जो थे जमाने जहलीत में उनके तस्वुर में ये था ही नहीं कि बेवा औरत बाद में निकाह कर सके उनका तस्वुर क्या था वो बेवा को एक कमरे में बंद कर देते हैं उसे ना लिबास बदलने की इजाजत होती ना गसल करने की वहीं पर वो अपनी हाजत से फारिग होती उसके जिसम पे कीड़े लग जाते हैं और वो सड़ कर मर जाती उसी कमरे के अंदर इसी तरह हिंदुस्तान में यह राइज था कि वो बेवा को शोहर के साथ जला देते थे तो अब जब वो इस्लाम लेकर आए तो इस्लाम दीन फितरत है वो फितरत को चेंज कर देता है यानी चेंज से मुराद उसका रुख जो है वो बदल देता है जैसे अरब के लोग जंगजू थे तो इस्लाम ने उनका जंगजूपन खत्म नहीं किया बल्कि उसके रुख को मोड़ दिया और उन्हें अल्लाह की राह में अपनी शुजात और बहादुरी दिखाने का हुक्म दिया तो इसी तरह अब इब्तदा में एक साल की इद्दत का हुक्म हुआ फिर जब लोग इसके आदि हो गए वो तो हमेशा की इद्दत मानते थे जब एक साल के वो आदि हो गए तो अब मजीद तकलीफ कर दी गई और फरमाया गया चार महीने और दस दिन इद्दत है ये जो मसला है नस्क का यानी बाज हुक्म पहले नाजिल हुए बाद में दूसरा हुक्म आया एक शख्स गुजरा है परवेज और उस फिरके को परवेजी फिरका कहते हैं और इसी का दूसरा नाम नेचरी है और आजकल मीडिया पर इनके मानने वाले नाम नहाद स्कॉलर बहुत सारे हैं तो वो नस्क होने का इनकार करते हैं और ये भी कुफर है क्योंकि कुरान से भी साबित है और आहदी से मशूरा मुतवातिर से भी साबित है कि अल्लाह ताला बाज अहकाम को बाज वक्त के लिए नाजिल फरमाता है तो इसका इनकार कुफर है तो वो इसका इनकार करते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला एक हुक्म नाजिल करे फिर उसको ख्याल हो कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल होगा चलो आसान हुक्म नाजिल कर दें हमने कब ये कहा कि अल्लाह ताला इस तरह फरमाता है तुमने अल्लाह को अपने जैसा क्यों समझा या अपने को अल्लाह जैसा कैसा समझा अल्लाह तबारक व ताली ने जो हुक्म नाजिल किया लोगों की नफसियात के मुताबिक जब लोग इस चीज़ के आदि हो गए तो दूसरा हुक्म आ गया तो इसलिए इसका इनकार जो है ये कुफर है आप ये आयत इसका नंबर लिख लें सूर बकरा आयत नंबर एक सौ छह इसमें भी नासिक मनसूख का बयान मौजूद है और सूर नहल आयत नंबर एक सौ एक के अंदर भी नासिक मनसूख का बयान मौजूद है मा ननसख मिन आयतिन अव नन नाति बखीर मिनहा औ मिसलिहा जब हम किसी आयत को मनसूख कर देते हैं या वो आयत भुला देते हैं तो उससे बेहतर लेकर आते हैं या उसके जैसी लेकर आते हैं बेहतर से दो मुराद हैं या तो सवाब में बेहतर होती है या आसानी में या माशरती लिहाज से वो बेहतर होती है जैसे शराब में पहले हुक्म यह था कि शराब अगर उससे बचो तो अच्छा है क्योंकि शराब जो है नुकसानदेह है फिर इसके बाद और ये हुक्म सूर्य बकरा की आयत नंबर 219 में था कि शराब से बचो तो बेहतर है क्योंकि शराब जो है नुकसानदेह है फिर सूर्य निशा आयत नंबर 43 में फरमाया गया कि नमाज के औकात में शराब मत पीना फिर सूरतुल माइदा आयत नंबर नब्बे में हमेशा के लिए शराब को हराम कर दिया गया तो पहले हुक्म आसान था फिर थोड़ा मुश्किल हुआ फिर ज्यादा मुश्किल हुआ लेकिन बेहतर इस लिहाज से है कि शराब जो है वो माशरे को तबाह कर देती है तो शराब से जब माशरा बचेगा तो माशरे की बका हो जाएगी तो दुनिया के लिहाज से भी बेहतर है और आखिरत में स्वाब के लिहाज से भी ये हुक्म और मजीद बेहतर हुआ और ये अल्लाह तबारक व ताली ने जो भी नाजिल किया ये लोगों की बेहतरी के लिए और इसकी वजह यह थी इसकी इल्लत ये थी कि शराब के काफिर आदि थे अगर यकदम शराब का हुक्म आता तो वो छोड़ तो देते लेकिन उनके आदत ना निकलती तो इसलिए बतदरीज उनकी आदत को निकाल दिया गया ताकि एक ऐसी कौम वजूद में आए जो कुरान पर चलने वाली हो और जिनको देखकर पूरी दुनिया के लोग कुरान को समझ जाएं। इसी तरह सूर्य निशा आयत नंबर पंद्रह में यह हुक्म है कि अगर कोई औरत या मर्द जिना कर ले तो उसकी सजा यह है कि उसको हमेशा के लिए एक घर में बंद कर दिया जाए लेकिन सूर्य नूर आयत नंबर दो में सौ कोड़ों की सजा का जिक्र है और हदीस मशहूरा में शादीशुदा के लिए संसार होने का यानी संसार करने का हुक्म है इसी तरह सूर्य बकरा आयत नंबर 180 में यह है कि मरने वाला अगर मौका पाए तो उसके लिए वसीयत करना फर्ज है लेकिन जब सूर्य निशा के शुरू में जब विरासत के अहकाम आ गए तो फिर यह हुक्म मनसूख हो गया अब वसीयत करना कोई फर्ज नहीं क्योंकि जायदाद की तकसीम उसी मुताबिक होगी जो अल्लाह तबारक व ताली ने हिस्से मुकर फरमाए इसी तरह सूर्य बकरा आयत नंबर दो सौ सत्रह में है कि हरमत वाले महीनों में जंग मत करो लेकिन सूर्य तौबा आयत नंबर छत्तीस में इजाजत दे दी गई कि जिहाद इबादत है जब भी जिहाद का मौका मिले हर वक्त और हर महीने में कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा मकसद अल्लाह के कलमे को बुलंद करना है तो हरमत वाले महीनों में भी जिहाद किया जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह ये नस का मसला नासिक मनसूख होने का मसला हमने समझ लिया इस पर जो एतराज उठाया जाता है वो भी समझ लिया कि बाद नाम नहाद मुफक्रीन कहलाने वाले वही एतराज करते हैं कि कोई आदमी कोई हुक्म दे फिर देखे कि मुझसे गलती हो गई चलो दूसरा हुक्म नाजिल कर दें तो वो अल्लाह ताला के बारे में ऐसा ऐसी सोच रखते हैं नाउजबिल्लाजाल ऐसा नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व ताली ने एक हुक्म नाजिल किया उसका एक वक्त मुकर था जब वक्त पूरा हो गया तो फिर दूसरा हुक्म नाजिल किया गया और ये लोगों की बेहतरी के लिए जैसे जब बच्चा मॉन्टेसरी में जाता है तो स्कूल के कवानीन दूसरे होते हैं और जब बच्चा मैट्रिक में होता है तो उसके कवानी दूसरे होते हैं और वो छठी जमात में होता है तो उस बच्चे के लिए मुख्तलिफ कवानी में जरूरत तब्दीली की जाती है क्योंकि बच्चा जो है अब वो बहुत सारी चीज़ों को समझने लगा है तो उसके लिए कवानीन में रद्द बदल होता है मसला मोन्टेसरी का बच्चा है तो वो खिलौने से खेल रहा है वो क्लास में पानी पी रहा है कोई रोकने वाला उसे रोकता नहीं है क्योंकि अभी उसकी वो सोच नहीं है तो जब इस्लाम की दावत पेश की गई लोग जमाना जाहिलियत के आदि थे तो इनकी हर हर आदत को बदला गया और बदतदरीज उनकी इसलाह की गई कुरान की बाज आयत महकम हैं कि हमारी समझ में आती हैं और बाज मतशाबे हैं कि उनका पूरा मतलब अल्लाह और अल्लाह के हबीब के सिवा कोई नहीं जानता मतशाबे की तलाश और उसके माना की जस्तजू करना ये सही नहीं ये वही करेगा जिसके दिल में टेढ़ापन होगा आयत मुतशाबियात में से मसलन अलिफ्लाम मीम अलिफ्लाम हरूफ मुकतात ये आयात मुतशाबियात से हैं यानी जिसके माना अल्लाह जानता है और अल्लाह की अता से उसके हबीब जानते हैं इसका पूरा मतलब हम इस इन आयात का पूरा मतलब नहीं जानते हाँ बाल मुफसरीन ने इशारे बयान किए हैं तो इशारा ज़रूर मौजूद हैं लेकिन पूरा मतलब और हकीकी मतलब अल्लाह जाने और अल्लाह की अता से उसके हबीब जाने आप इस आयत को नोट कर लें कि सूर्य आल इमरान आयत नंबर सात इसमें आयत मुतशाबिहात का भी जिक्र है और आयात महकमात का भी जिक्र है आयत मुतशाबिहात जिसके माना हम पर वाज नहीं और आयात महकमात जिनके माना हम पर वाज हैं आयात मुतशाबिहात ईमान लाने के लिए हैं और आयात महकमात ईमान लाने के लिए भी हैं और अमल करने के लिए भी हैं तो सूर्य आल इमरान आयत नंबर सात में इसका जिक्र है तीसरा पारा रुकू नंबर नौ हुवल्लदी अनजला अलैकल किताब वही रब है जिसने आप पर कुरान नाजिल किया मिनहु आयात महकमात उनमें से बाज आयतें महकमात हैं जिनके मफहम माना बिल्कुल वाज हैं हन्न उम्मुल किताब ये किताब की असल है यानी तुम्हें इन पर गौर करना है और अमल करना है वह उखरु मुतशाबिहात और दूसरी आयतें मुतशाबिहात हैं जिनके माना हम वाज तौर पर नहीं जानते फ़मल लदी नफ़ी कलूबी जईगुन तो वो लोग के जिनके दिलों के अंदर कजी है फैत तब्यून मा तशाबह मिनहुबतगाल फितनती तो वो आयात महकमात पर गौर नहीं करते आयात मुतशाबियात के पीछे पड़ते हैं ताकि फितना पैदा करें लोगों को कन्फ्यूज करें वब तिगा तावील ही और इसके गलत माना ढूंढने के लिए वो उसमें गौर और फिक्र करते हैं वमा या तावील उसके हकीकी माना तो अल्लाह ही जानता है व राशिकून अफिल इल्मी और जो इल्म में पुख्ता है यानी आलिम बामल हैं यकूलून वो कहते हैं ना बिही हम इस पर ईमान लाए कुल्लुम मिन इंद ना तमाम आयतें हमारे रब की तरफ से हैं इसी तरह यदुल्लाह फ़ौकादीन अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है फ़ैनमा तवल्लू फसम वजहुल्लाह तुम जहां कहीं भी अपना मुंह करो अल्लाह का चेहरा उस तरफ है वजहुल्ला तो वज माने चेहरा होता है यदुल्ला अल्लाह का हाथ इस तरह की जो आयतें हैं ये भी आयत मुतशाबिहात हैं हम नहीं जानते कि यदुल्लाह से क्या मुराद है वजहुल्ला से क्या मुराद है इसके माना अल्लाह जानता है और अल्लाह की अता से उसके महबूब जानते हैं क्योंकि अल्लाह ताला जिस्म से पाक है हाथों से पाक है वो चेहरे से पाक है फिर बाज मुताखरीन ने लोगों की आसानी के लिए उनका एक इशारतन माना लिखा ताकि लोगों के जहन गुमराह ना हो उन्होंने यदुल्लाह का माना कहा भाई इस तरह याद रखो कि अल्लाह की कुदरत अल्लाह की रहमत उनके हाथों पर है वजहुल्ला का माना ये कि अल्लाह की रहमत तुम जिधर भी मुंह करो अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ है लेकिन यह भी उसके हकीकी माना नहीं है ये तो लोगों की आसानी के लिए ताकि वो गुमराह ना हो वरना ईमान यही है कि वजहुल्ला के माना अल्लाह जाने यदुल्ला के माना अल्लाह जाने हम इसके मफहम और इसकी हकीकी मुराद को नहीं जानते हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हाथ से भी पाक है वो चेहरे से भी पाक है जिसम से भी पाक है यहां यदुल्ला से क्या मुराद है वो अल्लाह जाने और अल्लाह की अता से उसके हबीब जाने वही है नबूवत ये अम्बिया के लिए खास है जो इसे किसी गैर नबी के लिए माने वो काफिर है यानी वही नबूवत जो है नबूवत की वही वो सिर्फ नबियों को होती है नबी को ख्वाब में जो चीज बताई जाए वो भी वही है और नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता उसमें झूठ का कोई एहतमाल नहीं जैसा कि सूर सौफात आयत नंबर 102 में हजरत इब्राहिम सलाम के ख्वाब का जिक्र है कौल या बुनैया मेरे बेटे इन्नी अगाफिल मनाम मैं ख्वाब में ये देखता हूं अन्नी अजबाहू का मैं तुझे जिबा करता हूं तो हजरत इब्राहिम आसमाम ने ख्वाब ही देखा था तो नबियों का ख्वाब भी सच्चा होता है और उन्होंने ये देखा था मैं अपने बेटे को जिबा कर रहा हूं मतलब ये था कि मैं अपने बेटे को जिबा करूं तो आपने फिर इस ख्वाब पर अमल किया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने जो आपकी जिम्मेदारी थी जो आपका इम्तिहान था उसमें आप पूरे उतरे आपने तो छुरी फेर दी लेकिन जब आपने आंखें खोली यानी पट्टी हटाई तो देखा कि हजरत इस्माइल सलाम साइड में खड़े हैं और जन्नती मेंढा या दुम्बा जो है वो ज़िबा हो चुका है तो नबियों का ख्वाब भी सच्चा है इसमें झूठ का कोई भी एहतमाल नहीं वली के दिल में जो अल्लाह का नेक बंदा है वली उसके दिल में बाज औकात सोने की हालत में या जागने में कोई बात दिल में डाली जाती है तो उसको वही नहीं कहते उसको इल्हाम कहते हैं और जो लोग गंदे होते हैं या हमारे जैसे गुनागार तो उनके दिल में बैठे बैठे या ख्वाब में कोई बात शैतान की तरफ से डाली जाती है उसे कहते हैं इल्का मिन शैतान अल्लाह शैतान के इल्का से हमें महफूज फरमाए और ये शैतान बातें डालता है खास तौर पर नजूमियों के दिलों में काहिनों के दिलों में जादूगरों के दिलों में काफरों के दिलों में और गुनागार के दिलों में हदीस बाग में जब मोमिन बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैदान उससे दूर भाग जाता है एक अहम अकीदा नबूवत कस्बी नहीं है यानी आदमी इबादत और रियाजत के जरिए नबूवत को हासिल नहीं कर सकता बल्कि नबूवत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अता है कि जिसे चाहता है अपने फजल से देता है हाँ देता उसी को है जिसे उस मनसब अजीम के काबिल बनाता है जो कबल हसूल नबूवत तमाम अखलाक रजीला से पाक और तमाम अखलाक फाजिला से मुजयन होकर जुमला मदारज नबूवत मदारज विलायत तय कर चुकता है मतलब क्या इसका मतलब बहुत आसान है मजीद आसान यह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है नबी बनाता है लेकिन जिसे वो नबी बनाना चाहता है उसे मकाम और मरतबा अता फरमाता है नबी को पैदा होते ही विलायत के वो दर्जात हासिल होते हैं और अल्लाह के कुर्ब की वो मंजिलें हासिल होती हैं कि बड़े से बड़ा वली सारी जिंदगी रियाजत और मुजादात से वो मंजिल हासिल नहीं कर सकता नबी हर किस्म के गुनाह से ऐलान नबूवत के बाद भी पाक होते हैं और ऐलान नबूवत से पहले भी पाक होते हैं चाहे गुनाह सगीरा हो चाहे गुनाह कबीरा हो और अखलाक हसना के आला मकाम पर फाइज होते हैं कोई ऐसा काम वो नहीं करते जो लोगों के नज़दीक आर का बाइस हो नफरत का बाइस हो और हर किस्म की वो बुराइयों से महफूज रहते हैं और इनसे बुराई का होना मुमकिन ही नहीं अल्लाह ताला नबी को जो अकल अता फरमाता है वो अकल इस कदर कामिल होती है कि जितने इंसान आए और जितने आएंगे तमाम इंसानों की अकलें अगर तोली जाए तो नबी की अकल के करोड़वें हिस्से के करोड़वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकते बड़े से बड़ा साइंसदान बड़े से बड़े फलसफी बड़े से बड़े डॉक्टर दुनिया भर के जमा हो जाएं तो वो नबी की अकल के करोड़वें हिस्से के करोड़वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबियों के सरदार हैं इसीलिए मुसलमानों का यह अकीदा होना चाहिए कि हमारे नबी ने जो फरमाया वही हमारे लिए बेहतर है हमारी अकलें नाकिस हैं उन्होंने जो कहा यकीन हमारे लिए दुनिया में मुफीद है और आखरत में मुफीद है अल्लाह आलम हैस यजालू रिसालता सूर्य अनाम आयत नंबर 124 सूर्य अनाम आयत नंबर 124 अल्लाह ताला जानता है कि वो अपनी रिसालत कहाँ रखेगा सूर्य हदीद आयत नंबर 21 जाली का फजल्लाती मई यशा ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अल्लाह अता फरमाता है वल्लाहुल फजल और अल्लाह बड़े फजल वाला है और जो कोई नबूबत को कस्बी माने यानी वो ये समझे कि आदमी इबादत करके नबी बन सकता है कि आदमी अपने कस्ब रियाजत और इबादत से मनसब नबूवत तक पहुंच सकता है ऐसा समझने वाला काफिर है तो ये एक अहम अकीदा है कि नबी वही होता है जिसे अल्लाह नबी बनाता है कोई कितनी भी इबादत रियाजत करे वो मनसब नबूवत तक नहीं पहुंच सकता दूसरी बात नबी से कभी नबूवत जायल नहीं हो सकती नबी से कभी नबूवत जायल नहीं हो सकती यानी यह अहदा चला जाए ऐसा नहीं हो सकता नबी विशाल से पहले भी नबी है विशाल के बाद भी नबी है उसकी नबूवत के अंदर ये नहीं होगा कि विशाल से पहले नबी था विशाल पाया था तो अब नबूवत चली गई ऐसा नहीं जो ये समझे वो भी काफिर है जो शख्स नबी से नबूवत का जवाल जायज माने काफिर है एक अहम अकीदा नबी का मासूम होना जरूरी है और सिर्फ नबी मासूम है और फरिश्ते मासूम हैं बच्चों को हमारे यहां कहते हैं कि मासूम बच्चा है गो के इसका मतलब मासूम का मतलब होता है भोला मासूम का मतलब हमारे नज़दीक क्या होता है भोला सीधा साधा लेकिन फिर भी ये लफ्ज बच्चों के लिए नहीं बोलना चाहिए इसी तरह बाज लोग इमामों को मासूम समझते हैं वो भी गलत है ना हजरत अली मासूम थे ना इमाम हसन ना इमाम हुसैन ना इमाम जैनुल आबिदीन ना इमाम जाफर सादिक ना इमाम मूसा काजिम क्योंकि मासूम सिर्फ नबी होते हैं और मासूम सिर्फ फिरिश्ते तो इमामों को अंबिया की तरह मासूम समझना ये गुमराही और बददीनी है मासूम होने का मतलब क्या है मतलब ये कि अल्लाह ताला ने उनसे वादा फरमा लिया कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा लिहाजा नबी से गुनाह का होना मुमकिन ही नहीं अब देखें एक आता है डॉक्टर जाकिर नाइक ये अपने आप को ये शो करता है कि मैं हिंदुओं को इस्लाम की दावत दे रहा हूं काफरों को इस्लाम की दावत दे रहा हूं खुद ये मानता है कि मुझे प्रैक्टिस है तो सिर्फ और सिर्फ गीता पर प्रैक्टिस है बाइबल पर प्रैक्टिस है और कुरान की वो आयतें मुझे आती हैं जो ईसाइयों और यहूदियों को जवाब देने के लिए वो फ़िका का माहिर नहीं है हदीस का माहिर नहीं है कुरान की तफसीर का माहिर नहीं है खुद इसने अपनी वेबसाइट पर इसको तस्लीम किया है सवाल यह है कि जब बंदा किसी चीज़ का माहिर ना हो तो उसमें वो गुफ्तगु ही नहीं करनी चाहिए उसे गुफ्तगु ही नहीं करनी चाहिए तो एक दिन इसने अपनी तकरीर में यह कहा कि अल्लाह के सिवा किसी और को सज्जा करना यह शिरक है जो करेगा वो मुशरक है तो एक हिंदू खड़ा हो गया उसने कहा कि कुरान में तो है कि फरिश्तों ने आदम सलाम को सज्जा किया और कुरान में यह भी है कि यूसुफ सलाम को उनके भाइयों ने और उनके वालिद ने और उनकी खाला ने सज्जा किया तो आप तो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा जो किसी को सज्जा करे वो मुशरक है तो हजरत याकूब आसमाम और हजरत यूसुफ आसमाम की खाला और यूसुफ आसमाम के भाइयों और फरिश्तों के बारे में आप अकीदा बताइए कि वो मुशरक हैं कि मुसलमान हैं तो ये जाकिर नायक चुप हो गया इसके पास कोई जवाब नहीं था क्यों इसलिए कि इसको मालूम ही नहीं कि कौन सा सज्जा शिरक है सज्जे की दो किस्में हैं एक सज्जा किसी को इलाह समझ कर किया जाए वो पहले भी शिरक था और अब भी शिरक है किसी को खुदा समझ के सज्जा किया जाए तो वो क्या है शिरक है दूसरा सज्जा ताजीमी होता है जैसे आजकल अगर कोई आए तो हम उसकी ताजीम में खड़े हो जाते हैं तो पहली शरीयतों में ताजीमी सज्जा जायज था यानी किसी को खुदा न समझा जाए लेकिन सज्जा किया जाए उसकी ताजीम में तो वो जायज़ था तो वो ताजीमी सज्जा था लेकिन हमारी शरीयत में शरीयत मोहम्मदिया में ताजीमी सज्जा भी रसूलुल्लाह ने मना कर दिया अब ताजीमी सज्जा हराम है लेकिन इसको शिरक नहीं कह सकते क्योंकि शिरक हर दौर में शिरक रहा है ये नहीं कि पहले वो शिरक था और अब जायज हो गया या अब वो शिरक है और पहले जायज था ऐसा नहीं जो दुनिया में शिरक है वो आखिरत में भी शिरक है जो पिछली उम्मतों में शिरक है वो हमारी उम्मत में भी शिरक है शिरक में कभी तब्दीली नहीं हुई शिरक कभी जायज नहीं हो सकती तो चूंकि उसे मालूम की कमी है तो उसने एक ऐसी बात कह दी कि जिससे कुरान पर एतराज हो गया जिससे अहदीस तैयबा पर एतराज आया तो समझ लें कि सज्जे की दो किस्में हैं एक सज्जा इबादत का है दूसरा क्या है सज्जा ताजीमी है तो ताजीमी सज्जा पिछली शरीयतों में जायज था और मौजूदा शरीयत में यानी शरीयत मोहम्मदिया में ताजीमी सज्जा भी हराम है लेकिन शिरक कौन सा सज्जा है किसी को इला खुदा मबूद समझ कर सज्जा किया जाए तो वो शिरक है इसी तरह किसी ने इससे सवाल किया कि अंबिया मासूम हैं कि नहीं तो जाकिर नाइक ने कहा कि अंबिया मासूम नहीं ये भी गुमराही वाला अकीदा है तमाम नबी मासूम है और नबियों को मासूम मानना ये एक जरूरी चीज है लेकिन इल्म ना होने की वजह से या बदअकीदगी की वजह से उसने ये बात कही और फिर उसने दलील में क्या कहा ये बताओ कि अगर हजरत आदम सलाम से गुनाह नहीं हुआ था तो 300 बरस तक रो रो कर किसकी माफी मांग रहे थे तो इनका माफी मांगना इस बात की दलील है कि उन्होंने गुनाह किया और आप कहते हैं नबी से गुनाह नहीं हो सकता देखो आदम सलाम ने तो गुनाह किया नऊजुबिल्ला हमिन जालिम ये जिस अंदाज से उसने गुफ्तु की ये नबी की तोहन है और नबी की अदना सी है क्या नबी की अदना सी तोहीन ये कुफर है इबलीस लईन ने छह करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत की लेकिन आदम सलाम की तोहन की सारी इबादतें बर्बाद हो गई तो नबी की अदना सी तोहन कुफर है और ये अंदाज गुफ्तगु ये ये तोहीन आमेज है दूसरी बात यह है कि ये बताओ कि क्या इंसान अगर तोबा करता है अस्तफिरल्ला करता है अल्लाह से माफी मांगता है तो क्या उसी वक्त मांगता है जब उसने गुना किया हो अगर इस उसूल को मान लिया जाए तो उस हदीस का क्या जवाब होगा मेरे आका आप सबके आका दो जहां के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशाद फरमाते हैं मैं दिन भर में अल्लाह से सौ मरतबा माफी मांगता हूं एक हदीस में सत्तर मरतबा है और एक में सौ मरतबा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गुना तो तस्वुर में किया ही नहीं जा सकता आप तो गुनाहों से पाक हैं तो ये सौ मरतबा माफी मांगना ये इसलिए है कि आजजी और इनकसारी है तो आदम सलाम का गुना नहीं था बल्कि आपको भुला दिया गया खुद कुरान में है फनसिया आदम सलाम भूल गए और भूल में कोई चीज खाली जाए तो उससे रोजा भी नहीं टूटता तो ये गुना नहीं था आपको भुला दिया गया क्योंकि पांच सौ बरस से आप जन्नत में थे आपको दुनिया में खलीफा बनाया गया था तो आपको दुनिया में उतारा गया जमीन पर उतारा गया और ये आपकी आजी है कि गुनाह ना होने के बावजूद आप रोते रहे और अल्लाह ताला से माफिया मांगते रहे रोना गिड़गड़ाना माफी मांगना ये गुनाह होने की कोई दलील नहीं है वरना तो फिर आप कहेंगे कि जितने बुजुर्गान दीन है मसलन हजरत इमाम आजम सारी सारी रात रोते रहते और अल्लाह से माफी मांगते रहते इमाम बुखारी रोते रहते हजरत उमर रजी अल्लाह तु जो कतई जन्नती हैं विशाल का वक्त हुआ तो किसी ने आपकी तारीफ की तो आपने फरमाया बच्चे मेरी तारीफ मत कर अगर अल्लाह ताला मेरी नेकियां इतनी भी कबूल कर ले कि मुझे जहन्नम से बचा ले अगर मुझे जन्नत ना भी मिले सिर्फ जहन्नम से मैं बच जाऊं तो उम्र के लिए काफी है कतई जन्नती हैं तो क्या उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतला पर शक था नहीं शक और वहम नहीं था वो यकीन जानते कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया वो हक है लेकिन खौफ का यह आलम था कि जब गलबा खौफ होता तो उन्हें अपनी नेकियां और अपने फजाइल याद न रहते वो अल्लाह के खौफ से कांपते होते अल्लाह ताला ऐसे नाम नहाद स्कॉलर से हमें महफूज फरमाए और वैसे भी जो दीन का हुलिया ये नाम नहाद स्कॉलर टीवी पर पेश कर रहे हैं कि नंगी औरतें बैठी हैं सर खुला हुआ है सीना खुला हुआ है बाजू खुले हुए हैं साड़ी पहनकर वो जना पेट भी खुला हुआ है तालियां बजाई जा रही हैं वो बदनिगाही कर रहा है तो कुरान का नूर जब खुद उसके अंदर नहीं तो दूसरों को क्या देगा तालियां बज रही हैं सीटियां बज रही हैं वो औरतों को डायरेक्ट देख रहा है हालांकि हजरत अली को हुजूर ने देखने से मना कर दिया तो हजरत अली से बढ़कर कौन पाकिजा है तो जो नंगी औरतों को बेपर्दा औरतों को जिनके पेट नंगे हैं उनको देख रहा हो वो दीन का खादिम नहीं हो सकता बल्कि दीन का हुलिया बदलने वाला वो शख्स है इसी तरह टीवी पर एक प्रोग्राम किसी ने बताया तसव्वुफ पर आता है आजकल ये सूफीज़म इसको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अमरीका में अब अमरीकी हुकूमत के तहत सूफीज्म पर प्रोग्राम होते हैं ये सी आई ए करवा रखी है यानी सूफियों जो सूफी मसलक है तसव्वुफ उसका हुलिया और उसका इमेज लोगों पर गलत अंदाज में पेश करना भाई मौसीकी हो रही है और नाच रहे हैं ये सूफीज़म है ये कौन सी सूफीज़म है ये कौन सा तसव्वुफ है तो वो एक तसव्वुफ प्रोग्राम किसी टीवी चैनल पर आता था तो एक भाई ने देखा तो उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि वो हेडिंग थी खौफ खुदा जो बयान करने वाला था वो अंग्रेजी लिबास में था यहूदियों जैसी शक्ल बनाई हुई थी नंगे सर बैठा हुआ था औरतें और मर्द एक साथ बैठे हुए हैं और खौफ खुदा पर वो कुरान की आयतें पढ़ रहा है हदीसें पढ़ रहा है और उसकी बातों पर तालियां पढ़ रही हैं और हंस रहे हैं तालियां जो पढ़ रही हैं अब आप बताइए खौफ खुदा का मौजू और जो माहौल बता रहे हैं उसमें खौफ खुदा का जर्रा भी नहीं है तो ये इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं जो इस्लाम का हुलिया और इमेज बिगाड़ना चाहते हैं अल्लाह तबारक व ताला हमें और हमारी नस्लों को महफूज फरमाए इशाद फरमाया कि अम्बिया सलात वसलाम शिरक से कुफर से और हर किस्म के गुनाहों से मासूम है अल्लाह ताला ने अम्बिया सलाम पर बंदों के लिए जितने आकाम नाजिल फरमाए उन्होंने वो सब पहुंचा दिए जो ये कहे कि किसी हुक्म को किसी नबी ने छुपा रखा तकियतन यानी खौफ की वजह से या किसी और वजह से न पहुंचाया वो काफिर है जैसे बाद लोग कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के वक्त कहा भाई कागज और कलम लाओ मुझे कुछ लिखना है मैं लिखवाता हूं तो हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कुरान काफ़ी और और से तय्यबा काफ़ी हैं हज़रत उमर ने क्यों फरमाया रसूलुल्लाह शदीद अलील थे और आप मर्ज की तकलीफ महसूस कर रहे थे तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तह ये ख्याल किया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाएंगे तकलीफ होगी तो उनकी तकलीफ का लिहाज करते हुए हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कुरान काफ़ी है और अहदीस तय्यबा आपकी सुन्नत काफ़ी है हम में इख्तलाफ नहीं होगा अगर हम कुरान और हदीस और सुन्नत पर आमिल रहे तो इस पर बाद लोग कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखवाने वाले थे कि मेरे बाद अली जो हैं वो खलीफा होंगे लेकिन हजरत उमर के खौफ की वजह से रसूलुल्लाह ने नहीं लिखवाया नऊजुबिल्ला हमें जालिब तोबा अस्तफरल्ला अब ये देखें वो हजरत उमर की तोहिन नहीं कर रहे वो तोहिन किसकी कर रहे हैं रसूलुल्लाह की तोहिन कर रहे हैं और वैसे भी ये हुजूर ही के गुस्ताख हैं क्योंकि इनका बुनियादी अकीदा यह है कि हजरत जबरील अमीन हजरत अली पर वही लेकर आए थे वो तो जबरील अमीन से गलती हो गई हजूर के पास चले गए तो वो अपने अकीदे के मुताबिक हजरत अली को हजूर से ज्यादा वो मानते हैं इसीलिए आप देखें मस्जिद नबी शरीफ में कभी भी ऐसे लोग जो हजरत सिद्दीक अकबर के गुस्ताख हैं हजरत उमर के गुस्ताख हैं हजूर के रोजे पर हाजिरी नहीं देंगे आपने कभी भी इन लोगों को रसूलुल्लाह के मवाजाए शरीफ पर हाजिरी देते हुए नहीं देखा होगा क्योंकि इन्हें रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं इनका ताल्लुक यह है कि ये हजरत अली को रसूलुल्लाह से अफजल मानते हैं अंतर खाना वो क्या कहते हैं कि जबरील अमीन हजरत अली के पास वही लेकर आए थे यानी अल्लाह का हुक्म यह था गलती यह हो गई कि जबरील अमीन कहाँ चले गए हुजूर के पास और दूसरा इनका बुनियादी अकीदा यह है कि हजरत अली इमाम हसन इमाम हुसैन और जितने बारह इमाम हैं वो तमाम नबियों से अफजल हैं और गैर नबी को नबी से अफजल मानना यह भी कुफर है इसी तरह वो कुरान को भी नाकिस मानते हैं और कहते हैं कुरान के चालीस पारे थे दस पारों में अहल बैत के फजाइल थे तो हजरत उस्मान गनी ने अपनी बकरी को खिला दिया तो कुरान तो यह फरमाता है कि हमने कुरान नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे वो इस आयत की मुमकिन है लेकिन तकिया करते हैं तकिया के माना यह है कि जैसा बंदा वैसी गुफ्तगु तो सुन्नियों के सामने वो कहते नहीं हमारे अकायद नहीं है लेकिन इनकी मुस्तंद किताबों में यही अकायद लिखे हैं तो फरमाया कि जो ये कहे कि किसी हुक्म को किसी नबी ने छुपा रखा तकीयतन यानी खौफ की वजह से या और किसी वजह से न पहुंचाया यानी जिसके पहुंचाने का अल्लाह ने हुक्म दिया कोई हुक्म जरूरी था लेकिन अगर नबी ने ना पहुंचाया यानी वो अकीदा रखे नबी ने ना पहुंचाया तो ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर है अहकाम तबलीगिया यानी जो अहकाम है जो अम्बिया की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के अहकाम पहुँचाएँ इसमें अम्बिया से ना साहब होता है ना निसियान होता है न वो भूल सकते हैं और ना ही उनसे गलती हो सकती है नामुमकिन है उनके जिसम का बर्स जुजाम और इस तरह की बीमारियों से पाक होना जरूरी है कि जिससे लोग नफरत करते हैं तो आमतौर पर यह मन घड़त रिवायत आवाम में पड़ी जाती है कि हजरत अयूब सलात वसलाम इस कदर बीमार हो गए कि नऊज बिल्ला में जालिग नऊज बिल्ला में जालिग सुम नऊज बिल्ला में जालिग ये कहा जाता है कि उनके जिसम पर कीड़े पड़ गए ये रिवायत बिल्कुल मन घड़त है और ये रिवायत कुरान हदीस के खिलाफ है नबी का जिसम कीड़ा पड़ने से महफूज रहता है ऐसी बीमारियों से महफूज रहता है जिससे लोग घिन खाएं या नफरत करें अल्लाह तबारक वाली हमें अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करने की तोफ़ी अता फरमाए देखिए मैं आखिर में ये अर्ज़ करूँगा कि आपने जो घर में टीवी रखा हुआ है टीवी घर में मौजूद हो सौ से जायद चैनल हों मुझे बताइए कि इंसान का नफ्स कब सब्र कर सकता है कभी वो खबरों के नाम पर कोई चैनल खोल लेगा और फिर जब वो चैनल घुमा रहा होगा और किसी बेपर्दा या नंगी औरत पर नजर पड़ गई हजरत इमाम गजाली रहमा क्या बात फरमाते हैं अस्सी साल या सौ साल की रियाजत और मुजाहिदात से बंदा जो रूहानियत पाता है जो कुर्ब इलाही की मंजिलें पाता है एक मरतबा की बदनिगाही से सारी छीन जाती हैं तो अगर दो घंटे तक वो खौफ खुदा का बयान सुनता रहा रोता रहा और फिर वो खबरें सुनने के लिए चैनल घुमा रहा है और किसी नंगी औरत पर बेपर्दा औरत पर नजर पड़ी सारी रूहानियत चली गई इसकी तो मिसाल ऐसे है कि पूरी बाल्टी जो है वो दूध से भरी हुई हो एक कतरा पेशाब का पड़ जाए पूरी नापाक तो टीवी पर बैठकर बंदा रूहानियत पा जाए ये बहुत मुश्किल है न उस पर कंट्रोल नहीं रहता सिर्फ उंगली की बात है उंगली दब जाए और इंसान गुमराह हो जाता है फिर दूसरा मसला यह है कि टीवी पर कादियानी भी आ रहे हैं यहूदी ईसाई भी इस्लामी लिबादा कर आ रहे हैं ऐसे मुफक्रीन और स्कॉलर भी आ रहे हैं कि जो हदीस को नहीं मानते फ़िका को नहीं मानते बाज सहाबा कराम को नहीं मानते बाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख और बेअदब है अब हमारे बच्चों को तो नहीं मालूम कि कौन है हमें भी नहीं मालूम बच्चे कह रहे हैं जी दरसे कुरान सुन रहे हैं उन्होंने लगा लिया और कोई उसने गलत अकीदा बताया और बच्चों के जहन में बैठ गया तो एक अकीदा गलत हो जाए इंसान काफिर हो जाए तो हदीस पर फिर गौर करे हजूर ने फरमाया सुबह बंदा मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाए तो ये टी वी के सौ चैनल बंदे को काफिर बनाने के बहुत बड़े इम्कान हैं फिर जितने ड्रामे हैं जितने फिल्में हैं जितने टी वी प्रोग्राम हैं उसमें कुफरियात बके जाते हैं और फिर इस्लाम का हुलिया क्या पेश किया जाता है कि अगर पर्दे के ऊपर गुफ्तगु करनी है तो एक बेपर्दा औरत को बिठाते हैं एक क्रिकेटर को बिठाते हैं एक फनकार को बिठाते हैं एक सियासतदान को बिठाते हैं और एक टूटा फूटा मौलवी बिठा देते हैं और दीन के ऊपर तबसरा हो रहा है इनमें से कोई भी दीन जानता नहीं लेकिन अगर साइंस का प्रोग्राम हो तो सारे बड़े बड़े चोटी के साइंसदान बैठे होंगे अगर किसी कारोबारी मसले पर कोई प्रोग्राम हो तो सारे कारोबारी माहरीन बैठे होंगे और उसी फील्ड के माहरीन बैठे होंगे यानी दीन की कोई वक़्त लोगों के दिलों में नहीं है कि छोला बेचने वाला भी दीन बयान कर रहा है कुल्फी बेचने वाला भी दीन बयान कर रहा है लोग कहते हैं कि जनाब वो जो माइक लेकर रोड पर खड़े हो जाते हैं कोई भी मसला हो तो वो रोड पर छोले बेचने वाले को पूछते हैं बताइए हदूद ऑर्डिनेंस के बारे में आपकी क्या राय है ये बताइए चोर के हाथ काटना ये सही है अब बताइए छोला बेचने वाला मोची रेड़ी चलाने वाला बल्कि डॉक्टर इंजीनियर भी जब तक कुरान हदीस का माहिर नहीं है वो कुरान हदीस पर तबसरा करने का अहल नहीं है तो मैंने अर्ज किया ना कि अगर डॉक्टर का प्रोग्राम होगा तो सारे डॉक्टर होंगे अगर किसी बिजनेस का मसला होगा तो सारे बिजनेसमैन बैठे होंगे लेकिन दीन का मसला हो कुरान का मसला हो तो चर्सी मवाली अदाकार फनकार डांसर खिलाड़ी और इस किस्म के लोग बिठा दिए यानी ये एक मगरबी साजिश है ये यहूदियों ईसाइयों की साजिश है कि हमें मिसगाइड कर दिया जाए और हमारी आने वाली नस्लों के दिल से दीन की वक़्त निकाल दी जाए और ये सोच दे दी जाए कि दीन उसका नाम है जो तुम्हारी सोच है जो तुम्हारी अकल में आए वो दीन है और जो तुम्हारी अकल में ना आए वो दीन का उसका कोई ताल्लुक नहीं अल्लाह ताला हमें भी ईमान की हिफाजत नसीब फरमाए और हमारी नस्लों को भी ईमान की हिफाजत नसीब फरमाए किताबों पर बयान हमारा मुकम्मल हुआ रसूलों पर ईमान का बयान भी तकरीबन मुकम्मल हो गया अब बयान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु